यादें स्वतंत्रता संग्राम की वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम अठारह की महाक्रांति 1857 की महाक्रांति का विशेष स्थान है वो ब्रिटिश राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शोषण की नीतियों के खिलाफ जनता का पहला जोरदार जवाब था जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया ये विद्रोह भारतीय सभ्यता और अंग्रेजी सभ्यता के बीच हुए टकराव का नतीजा था विद्रोह के पीछे एक कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता का लगातार आर्थिक शोषण अंग्रेजों की अर्थनीतियों की चपेट में आकर पुराने उद्योग धंधे ठप हो गए थे एक ओर किसान और कारीगर आर्थिक शोषण की नीतियों से आतंकित थे तो दूसरी ओर पुराने ताल्लुकेदार ब्रिटिश भूमिकर नीति से प्रभावित थे देसी राजा लैप्स की नीति से आतंकित थे इन सब ने पहली बार एक साथ मिलकर एक जबरदस्त लड़ाई का मोर्चा खड़ा कर दिया था ये अंग्रेजों के खिलाफ एक मिला जुला विद्रोह था यह कहना कि विद्रोह केवल सिपाहियों का ही था गलत होगा सिपाहियों में फैले असंतोष और उनके विद्रोह ने जनता के मन में बरसों से पल रहे रोष को फूट निकलने का मौका दिया इन असंतुष्ट सिपाहियों को विद्रोह करने पर मजबूर किया राइफलों में इस्तेमाल के लिए बनाए गए नए किस्म के कारतूसों सन अठारह दमदम मस्केटरी डिपो जहां इन कारतूसों के खिलाफ आवाज उठाई गई नहीं मानेंगे तुम्हारा ऑर्डर जो करना है कर लो हम वो लोग नहीं जो डर जाएं। इन कारतूसों को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है इन्हें हम मुंह से नहीं खोल सकते इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है तुम लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो देखते हैं तुम क्या करते हो हाँ हाँ नए कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे यू ब्लडी फूल्स इसकी सख्त सजा दी जाएगी तुम्हारी ये टुकड़ी तोड़ दी जाएगी अरे जो करना है करो मगर ये सही नहीं चलेगी अब। नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे हम सिपाही लोग इन अंग्रेजों को मजा चखा कर ही दम लेंगे अंग्रेज हमारा धर्म मिटाने पर तुले हैं हमें जबरदस्ती समुद्री यात्राएं करने पर मजबूर किया जाता है यहां तक के हमें अपनी जात की पहचान बनाए रखने देने के लिए दाढ़ी बढ़ाने से पगड़ी बांधने से टीका लगाने तक से रोका जाता है और तो और अब ये नए कारतूस वाली चाल और क्या हम नहीं जानते कि इन ईसाई पादरियों को सेना के बीच क्यों रखा जाता है अरे हमें ईसाई बनाने के लिए ये हमारा धर्म बदलना चाहते हैं मंगल पांडे तुम क्या सोचते हो अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादती हम पर बढ़ती जा रही है सुना आप सबने हमारी टुकड़ी कारतूस इस्तेमाल न करने के जुर्म में तोड़ दी गई है और कल जमादार सालिग्राम का कारतूसों के विरोध करने के जुर्म में कोर्ट मार्शल किया जाएगा मेरा तो खून खोल रहा है अब तो अंग्रेजों का खून करके ही मुझे चैन मिलेगा यही मंगल पांडे तुम तुम सिपाहियों को हमारे खिलाफ भड़काता है सुअर का बच्चा हाँ। तुझे तुझे तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आई, आई, आई, आई, आई, क्या करते तुम बत, आ, गजब हो गया गजब हो गया मंगल पांडे को अंग्रेज अफसर के खून करने और अंग्रेजों से बदतमीजी से पेश आने के जुर्म में कल फांसी दे दी गई मंगल पांडे ने इन विदेशियों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया वो शहीद हो गया और 24 अप्रैल को मेरठ में भी यही घटना दोहराई गई सर आज थर्ड नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया ये सब तो बगावत पर उतर आए हैं सर वो मैं खुद उनसे बात करूंगा देखते हैं कैसे नहीं मानते आओ कारतूस इस्तेमाल नहीं करने की सजा में यह टुकड़ी तोड़ी जाती है और तुम सब क्यों दस साल की कैद की सजा सुनाई जाती है गिरफ्तार कर लो इन सबको अरेस्ट दम ले जाकर ठूस दो इन सबको जेल के अंदर इस गिरफ्तारी के खिलाफ 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने अपना आक्रोश प्रकट किया अंग्रेजों का जुल्म हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे सैनिक भाइयों को बेरहमी से जेलों में बंद किया गया है चलो दोस्तों हम अपने सिपाही भाइयों को कैद से रिहा कराएं ए, तुम लोग किधर को चाहता है तुम भी जेल में जाना मांगता है क्या मार डालो इन अंग्रेजों को कोई बचने ना पाए जेल की दीवारों को तोड़ दो ये बाहर कैसा शोर है लगता है हमारे भाई हमें छुड़ाने के लिए आ पहुंचे हैं भाइयों बात चलो अब आप चर यहाँ है साथियों मेरा सुझाव है कि हम सभी दिल्ली चलें और मुगल सल्तनत के चराग बहादुर शाह को अपना बादशाह बना ले सारे हिंदुस्तान का बादशाह बना ले हाँ, हाँ, ये ठीक है सवार हो जाओ अपने घोड़े पर और फिर ये जाबाज सिपाही दिल्ली की ओर दौड़ पड़े बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए आप लोग कौन हैं हम मेरठ के सिपाही हैं अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके आ रहे हैं बहादुर शाह को बादशाह बनाने की इच्छा रखते हैं बहुत खूब फिर तो हम सब दिल्ली के घुड़सवार सिपाही भी तुम्हारे साथ हैं चलो साथियों मुग़ल ख़ानदान पर आपके इस भरोसे के लिए हम शुक्रगुजार हैं आप सब ने हमें नए हिंदुस्तान का बादशाह चुना है तो हम भी अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाएंगे हम इस वक्त दूसरे देसी राजाओं से भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एकजुट होने की गुजारिश करना चाहते हैं अंग्रेजी हुकूमत मुगल खानदान को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर चुकी है फिर भी उसे चैन नहीं ये फिरंगी हुकूमत चाहती है कि हमारा नामो निशा ही न रहे गवर्नर जनरल लाल डलहौजी ने हमारे और बाद के मुगल वारिसों को लाल किले में जहां मुगल बादशाह हमेशा से रहते आए हैं वहां रहने से साफ मना कर दिया है हमारे वारिसों को दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने का हुक्म दे दिया गया है इतना ही नहीं हमारे वारिस हमारे बाद सिर्फ शाहजादे ही कहलाएंगे बादशाह नहीं ये तो मुगल सल्तनत की साफ साफ तोहीन है बहादुर सिपाहियों हम सब मिलकर अंग्रेजों से बदला लेंगे और उन्हें उनकी ज्यादतियों का सबक सिखाएंगे अठारह की महाक्रांति के ये सैनिक अपनी जान की बाजी लगाए अंग्रेजों से लड़ते रहे परंततः 20 सितंबर अठारह के दिन अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया दिल्ली के अंग्रेजों के हाथ में आते ही महाक्रांति का मुख्य केंद्र समाप्त हो गया Well, दिल्ली में हमारा कब्जा हो चुका है अब हमें इन गद्दारों का मजा चखाना है बहुत हिम्मत बढ़ गई इनकी और फिर अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया लेकिन देसी रजवाड़े अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों से मोर्चा लेते रहे लैब्स की नीति जिस पर गोद लिए पुत्र को गद्दी पर बैठाना गैर कानूनी माना गया था देसी राजाओं के विद्रोह का एक मुख्य कारण बना सभी जगह क्रांति की ये आग दुश्मनों को झुलसाती फैलती जा रही थी और फिर इसी महाक्रांति की आग इलाहाबाद कानपुर और पटना में भी फैल गई हम्म खैर और बगावत फैलती जा रही है खबर मिली है कि पूरी बंगाल आर्मी ने हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है अवध राहल दुआब बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया सभी जगह हमारे लोगों को उन लोगों ने हटा दिया you know, ये नाना साहब ने हमारे लोगों को कानपुर से बाहर भगा दिया है और खुद पेशवा बन बैठा है यस टांटिया टोपे झांसी से अंग्रेजों को हटाने में लक्ष्मी बाई की मदद कर रहा है डोंट यू वरी फिक्र मत करो अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले में इनके पास ताकत ही क्या है तांतिया टोपे जी ये अंग्रेज लोग तो अपनी हुकूमत हम पर लाते ही जा रहे हैं हाँ रानी लक्ष्मीबाई जी अंग्रेज सरकार की लैप्स नीति ने जिस तरह आपके गोद लिए पुत्र को झांसी की गद्दी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है उसी तरह हमारे नाना साहब भी गोद लिए पुत्र होने के कारण कानपुर में शासन करने के हकदार नहीं समझे जाते हैं खूब जानती हूं मैं इन अंग्रेजों की चालों को हमारे राज्यों को हड़पना चाहते हैं ये लोग झांसी से मुझे अंग्रेजों ने बाहर कर दिया है मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी है चलिए तांतिया जी अब देर ना करें ग्वालियर पर हमें मिलकर कब्जा करना है मेरे बहादुर सिपाहियों हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम अपनी आजाद शाही को अपने हाथों नहीं दफनाएंगे ये खुशी की बात है ये ग्वालियर के बीस हजार सिपाही अंग्रेजों का साथ छोड़कर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं बहादुर सैनिकों तो चलो अब देर ना करो छेड़ दो जंग दुश्मनों के खिलाफ और इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई लेकिन यह संघर्ष जारी रहा भारत में जहां जहां विद्रोह हुआ वहां विद्रोही जनता को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति से बचने के लिए नाना साहेब नेपाल की ओर चले गए और दूसरी ओर तात्या टोपे जंगलों में चले गए जहां से उन्होंने गुरिल्ला लड़ाई जारी रखी मुखबिरी के कारण तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी की सजा दी गई देसी राजाओं और सिपाहियों के अलावा कुछ और वर्ग जिन्होंने गदर में भाग लिया वे थे किसान कुछ असंतुष्ट जमींदार और कुछ शहरी जनता अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति से किसानों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था हर साल भूमि कर का बढ़ना और किसानों को उपज का बहुत कम हिस्सा मिलना अंग्रेजों की कुव्यवस्था का कारण था किसानों में आक्रोश बढ़ रहा था अठारह की इस महाक्रांति में उन्होंने सैनिकों का साथ देकर अपना आक्रोश प्रकट किया भाइयों हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली हम का सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए महाजनन के बही खातों को जला डालो और इस जमींदारों को जान से मार डालो अरे हम अंग्रेजों से हमदर्दी काहे जताएं बताओ भला का भला किया है इन लोगों ने हमारा हमने सारे धन धन का ठप करके अपने देश के कारखाने में बने माल को हम पर थोप रहे हैं ये लोग अरे हाँ भाई अपना माल बनाने खातर कच्चा माल जो करियो कपास हो ना अरे थोड़े पीछे दे अपने देश में ले जा से हमारा तो नुकसान ना नुकसान से इसमें और ये कोर्ट कचहरी इससा हमार दुश्मन है और ये चापलूस जमींदार और खून चूसन वाले महाजन ये अंग्रेज के साथी हैं इन पर तो हमला बोलने की चाहिए इनका हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे अंग्रेजों ने किसानों के संग्राम में कुछ चापलूस जमींदारों का सहारा लिया well, हम आपको आपकी जमीनें वापस कर देंगे तो लेकिन एक शर्त है हाँ। आप लोगों को विद्रोहियों का साक्षर न होगा अच्छा। अब आप भी हमारा इस रिवोल्ट को खत्म करने में साथ दें ठीक है अगर आप हमारी जमीनें लौटाते हैं तो हम विद्रोही किसानों और सिपाहियों का साथ नहीं देंगे हाँ, ठीक है। आज से हम आपके साथ हैं बहुत अच्छा और इस तरह अपने ही लोग अपनों पर टूट पड़े और गरीब किसानों को कुचला जाने लगा किसानों का यह आंदोलन दबता चला गया अठारह की ये क्रांति दो सभ्यताओं के बीच का टकराव थी कि ऐसा टकराव था जिसके कारण समाज के सभी वर्गों में ब्रिटिश कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह फैला भारतीयों के मन में ये भावना घर कर चुकी थी कि ब्रिटिश राज भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंत करके ही दम लेगा इन्हीं भावनाओं के कारण भारतीयों के मन में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की लहर दौड़ गई और इसी लहर को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है